कण कण में रमा हुआ सर्वत्र फैला हुआ निराकार परमात्मा हर क्षण सबको देखने वाला परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों ध्यान का विषय कई दिनों से चल रहा है आप लोगों के जो ध्यान के विषय में कुछ प्रश्न हो पूछना चाहते हो तो पूछ सकेंगे नरेंद्र जी का एक प्रश्न है प्राणायाम से क्या चित्तवृत्ति निरोध हो सकता है मन के विचारों को पूरी तरह रोक देना वो चित्तवृत्ति निरोध कहलाता है ये बहुत ऊंची स्थिति है सामान्यतः हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो अन्य अन्य विचार आते रहते हैं जिन विचारों को हम नहीं उठाना चाहते वो भी आते रहते हैं और ऐसा ध्यान के समय ही नहीं पढ़ने के समय भी होता रहता है कोई भी कार्य करते हैं उस समय होता रहता है जिस कार्य में हमें मन लगाना हो वहां मन न रहे और बार बार इधर उधर के विषयों में जाता रहे तो वो काम हम अच्छी तरह नहीं कर पाते अध्ययन नहीं कर पाते एकाग्रता नहीं बनती है कार्य नहीं कर पाते यदि व्यक्ति जिस विषय पर टिका है जिस पुस्तक को पढ़ रहा है जिस कार्य को कर रहा है उसी में केंद्रित हो जाए तो अच्छी तरह होता है ये ध्यान का लाभ है ध्यान में यह अभ्यास होता है व्यक्ति को मन को एकाग्र करने का तो ये तो एक स्थिति है कि मन एकाग्र होता है लेकिन योग में और भी इससे ऊंची स्थिति है मन को एक ही विषय पर टिकाए रखना यह भी एक ऊंची स्थिति है दूसरा कोई विचार ना है लेकिन विचारों को पूरी तरह रोक देना ये और भी ऊंची स्थिति है तो इनका प्रश्न है कि प्राणायाम से चित्त वृत्ति निरोध हो सकता है क्या सारे विचार रुक सकते हैं क्या प्राणायाम से हमारे को एकाग्रता की प्राप्ति होती है जो इधर उधर विचार आते हैं जो प्राणायाम करते हैं उनका मन एकाग्र होता है उस समय भी एकाग्र होता है जब प्राणायाम करते हैं और मन को रोकने की सामर्थ्य उनकी बढ़ती है मन को नियंत्रण करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है प्राणायाम से बल आ जाता है मन में और उस बल के कारण जहां वो टिकाना चाहते हैं वहां टिक जाता है मन मन में बल नहीं हो तो कभी कोई विचार कोई संस्कार मन को उड़ा के ले जाएगा इधर उधर कभी इधर ले गया कभी इधर ले गया और बल प्राप्त हो जाता है तो वहीं टिका रहता है मन तो प्राणायाम से मन को एकाग्र करने में सहायता एक स्थान पर टिकाने में सहायता मिलती है इनका प्रश्न है कि प्राणायाम से क्या चित्तवृत्ति निरोध भी होता है प्राणायाम एकाग्रता को ला करके चित्तवृत्ति निरोध में सहायता करता है बहुत सारे विचार उठ रहे हैं चंचलता है मन में इससे मन एकाग्र हुआ उसके बाद में फिर उससे आगे की स्थिति होती है उस कोई भी विषय मन में नहीं रखना तो चूंकि बिना एकाग्रता के सारी विचारों को रोका नहीं जा सकता एकाग्रता चाहिए और उस एकाग्रता में प्राणायाम सहायता करता है इसलिए परंपरा से परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं प्राणायाम विचारों को रोकने में सहायक होता है चित्तवृत्ति निरोध में सहायक होता है आगे इनका प्रश्न है कि जब हृदय में ध्यान लगाते हैं ध्यान बहुत जगह अलग अलग लगता है हम अपने दोनों भावों के बीच में भी लगा सकते हैं यहाँ यहाँ भी लगा सकते हैं ऊपर भी लगा सकते हैं कंठ में लगा सकते हैं हृदय प्रदेश में लगा सकते हैं ऐसे स्थान चुनने पड़ते हैं उस स्थान को चुन के फिर वहां पर एकाग्र करते हैं अपने को तो ये पूछ रहे हैं कि हृदय में जब मन को लगा दिया फिर वहां वहीं लगाए रखते हुए प्राणायाम भी किया ईश्वर के गुण का मनन भी किया और इससे तमोगुण और रजोगुण घट गया तमोगुण घटने का मतलब है आलस्य घट गया पढ़ने बैठे और आलस्य आने लगा मन तो इधर उधर नहीं जा रहा है लेकिन मन सक्रिय नहीं है जड़ है आलस्य आने लग जाएगा जिस समय आलस्य आएगा उस समय और इधर उधर की बात नहीं सोचता है व्यक्ति वो तो रुकती है लेकिन जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते उसमें जागरूक नहीं रहते तो प्राणायाम से ध्यान करने से एक तो तमोगुण घटता है यानी आलस्य हटेगा जागरूकता सक्रियता रहेगी अंदर ही अंदर शरीर तो स्थिर होगा लेकिन मन अंदर से बहुत जागरूक बुद्धि बहुत जागरूक सजग रहेगी शरीर की चंचलता घटेगी मन की चंचलता भी घटेगी लेकिन जागरूक बहुत रहेगा तो तमोगुण कम होता है और रजोगुण घट जाता है चंचलता घट जाती है जो व्यक्ति सोने के लिए जाने लगता है तो उसके शरीर भी शिथिल होता जाता है स्थिर होता है मन भी स्थिर होने लगता है लेकिन वो तमोगुण में चला जाता है उसको जागरूकता नहीं रहती सो जाता है और शरीर को स्थिर करके मन को स्थिर करके एकाग्र करके फिर जागरूकता को भी बनाए रखना वो सतोगुण के बढ़ने पे होता है तो इन सब से तमोगुण रजोगुण घटकर सत्वगुण बढ़ता है अब उसके बाद की स्थिति के लिए प्रश्न कर रहे हैं शरीर स्थिर है मन एकाग्र है जागरूकता बनी है आलस्य नहीं है उस स्थिति में ध्यान में बैठे हुए आखिर जो बुद्धि से हृदय पर ओम का मनन प्राण द्वारा स्वयं ओम के उद्गार निकलने लगते हैं अंदर से ओम ही ओम चलने लगता है परमात्मा का स्मरण होने लगता है उद्गार निकलते हैं इनका अभिप्राय होगा कि अंदर से अपने आप जैसे आने लग जाते हैं ओम का बार बार उच्चारण बार बार उच्चारण सामान्यतया उसको प्रयास करके व्यक्ति लाता है जब नया व्यक्ति ध्यान करता है तो वो कहता है चलो ओम बोलना है अब गायत्री मंत्र बोलना है लेकिन जो बार बार करते रहते हैं करते रहते हैं वो अपने आप निकलता है वो अंदर बस जाता है जैसे समाज में जीवन जीते हुए किसी के मन में कोई एक लगन लग जाए ये चीज चाहिए मेरे को मकान चाहिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना इतने अंक आने हैं ये नौकरी चाहिए इसमें मुझे सफलता पानी है अंदर बैठ जाए तो दिन रात वही वही चलता रहता है उसके बार बार वही याद आता है वही वही याद आता है वही वही याद आता है कोई खेल चल रहा हो उसमें बहुत रुचि हो देख रहा हो तो उसको बार बार वही याद आएगा कि अभी वो खेल होने वाला है वो मैच होने वाला है उसको देखना है उसको देखना है वो इतनी बजे आएगा उसी को ही सोचता रहता है व्यक्ति वो अंदर से आता रहता है तो जब साधक व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है परमात्मा के प्रति लगन लगती है तो उसके मन में भी ऐसे ही ओम ही ओम आता रहेगा परमात्मा का स्मरण आता रहेगा तो कह रहे हैं कि जब ये मन स्वयं उद्गार निकलने लगते हैं वह कौन सी अवस्था है यदि उस समय केवल वही विचार आ रहे हैं परमात्मा का ही स्मरण हो रहा है और कुछ नहीं है तो ये एकाग्र अवस्था है उस समय हम एकाग्र हो जाते हैं और कोई विषय नहीं आता है यदि कोई विषय आता भी है तो हल्का फुल्का सा आता है अंदर ओम का जब चल रहा है कोई व्यक्ति आए उनसे मिले थोड़ा सा मिले मोटा मोटा अंदर से चलता रहेगा वो अंदर ही अंदर उनसे जो व्यवहार करना तो वो व्यवहार किया वो चलेगा फिर अंदर चल रहा है अपना अंदर ही अंदर चलता रहता है जैसे कि किसी को कहीं परीक्षा देने जाना हो मन में परीक्षा का ये परीक्षा देनी है अब तैयारी हुई है अब क्या लिखूंगा क्या करना है उसी बीच में कोई व्यक्ति आ जाए मिलने के लिए तो उससे बात तो करते हैं हम किंतु मन में परीक्षा वाली बात चलती रहती है मेरे को परीक्षा के लिए जाना है उससे व्यवहार भी करते हैं लेकिन परीक्षा और वो जो लक्ष्य बना हुआ है वो अंदर ही अंदर बना रहता है कि हाँ इनसे निपटते ही मेरे को वहां जाना है इनसे निपटते ही मुझे अभी ये एक चीज और याद करनी है मुझे ये सामान लेना है मुझे ये प्रवेश पत्र रखना है इत्यादि जो मन में बात रहती है वो बनी रहती है मन के अंदर अंदर ही अंदर चला रहता है चलता रहता है तो ये जो जब उद्गार निकलते हैं ओम जब चलता रहता है तो व्यवहार करते करते भी अंदर ही अंदर वो थोड़ा चलता रहता है तो ये एक अच्छी स्थिति है इसमें इसके नाम से एक चीज चलती है शब्द चलता है उसको कहते हैं अजपा जप जिसमें जब करते नहीं है जब होता रहता है अंदर ही अंदर शब्द निकलता रहता है बार बार बार बार एक तो हम प्रयास से ओम बोलते हैं अथवा मन में विचार लाते हैं ओम का उच्चारण करते हैं मन ही मन में एक होता है वो अपने आप चलने लग जाता है चक्र की तरह से उसको अचपाचप कहते हैं अच्छी स्थिति है किंतु वहां यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल शब्द ही शब्द ना चलता रहे ऐसा भी होता है कि वो शब्द चलता रहेगा लेकिन मन विचार लौकिक बने रहेंगे वो शब्द पे इतने केंद्रित हो जाते हैं आधा घंटे एक घंटे ओम का जप गायत्री का जप एक ही एक करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं घंटों एक दिन किया दो दिन किया लगातार करते करते करते करते वो शब्द उनके चक्र में आ जाता है बुद्धि में वो निकलता नहीं है दिमाग से चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है शब्द चलता रहता है अर्थ की भावना नहीं रह पाती वो नहीं होना चाहिए शब्द चल गया तो अर्थ की भावना मुख्य है वो हमारी बननी चाहिए केवल शब्द आता जा रहा है आता जा रहा है अजपा जब चल रहा है इसको सोच करके देख करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए ये तो बन गई स्थिति बहुत अच्छी अर्थ की भावना वहां अवश्य आनी चाहिए और अर्थ की भावना बनी है तो भले ही अजपा जपना चल रहा हो शब्द नहीं बोला जा रहा हो तो भी ये ज्यादा अच्छा है दोनों भी चला सकते हैं जब भी चल रहा है और अर्थ की भावना भी हमारी बनी रही है चल रही है तो मैं सोचता हूं आपका विषय हो गया है अन्य किन्हीं को पूछना हो ध्यान के बारे में बच्चों को पूछना हो नए जो आए हैं आप लोग ध्यान के लिए बैठते हैं कभी थोड़ा यहाँ आप आते रहते हैं बताया जाता है ओम का जप है गायत्री का जप है परमात्मा का स्मरण है आप में से कोई बैठते हैं हाँ या ना एक और बाकी तो जब बैठते हैं तो कोई समस्या लगती है या अच्छी तरह होता रहता है ध्यान है हाँ। जी वो बोलेंगे आपका नाम क्या है हैं स्वस्ति हाँ बोलिए हैं जी अच्छी तरह हो जाता है कितनी देर 20 मिनट अच्छा क्या करते हैं उस समय आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मेरे को अच्छा उस समय और कुछ नहीं आता है विचार अच्छा और आप करते हैं नहीं करते हैं गायत्री मंत्र तो आता है हम्म तो थोड़ा बैठ करके ऐसे ही और भी बच्चे जो और भी बैठे फिर करके देखना थोड़ी देर ओम का बोलो गायत्री मंत्र बोलो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शरीर को जड़ कर दो नाटक करते हैं नाटक होते हैं ना तरह तरह के कभी ये बोलना होता है कभी ये बोलना होता है तो किसी नाटक में कभी ऐसा भी होता है कि एकदम मूर्ति की तरह से बन के खड़ा हो जाते हैं होता होगा नाटक में कहीं क्या नाटक करना है बिल्कुल भी नहीं हिलना है वहां कैसे हम स्थिर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए खड़े हों या बैठे हों नाटक चल रहा है कि भालू आए तो क्या करना चाहिए जंगल में है भालू आ जाए तो क्या करना चाहिए सुन रखी है भालू की कहानी एक भालू की कहानी है आपके माता पिता को कुछ सुनना कभी कि भालू आ गया था तो मैं सुनाऊ कहानी दो दोस्त थे मेरे को जितनी याद आ रही है सुना रहा जंगल में गए दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी थी दोस्त तो वही होते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करें तो जंगल में थे एक भालू आ गया गुर्राता हुआ तो अब दोनों डरे तो एक तो पेड़ पे चढ़ गया दूसरा पेड़ पे चढ़ नहीं सकता था वो नीचे ही रह गया वो अकेला पड़ गया क्या करूं अब तो उसको याद आया कि भालू जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसको फिर कुछ नहीं करता है अगर हम भागेंगे दौड़ेंगे तो वो हमारे पीछे पीछे भागेगा डराएगा उसको कभी कोई कहानी याद आ गई पता लग ध्यान आ गया कि वो सांस रोक करके पड़ गया बस बिल्कुल लेट गया वो तो ऊपर चढ़ गया एक दोस्त तो वो भालू पास में आया उसको सूंघने लगा पहले तो लेट गया वो स्थिर जैसे ही वो पास में आया तो सांस भी रोक करके बिल्कुल स्थिर हो गया वो भालू आके सूंघ करके गया उसने देखा ये तो मरा हुआ है सांस भी नहीं चलता है और वो सूंगा उसने कान में भी सूंगा इधर उधर चला गया ये सांस फिर ले लिया फिर उठ गया बैठ करके वो तो कैसा हो गया था वहां पर उसने नाटक किया था ना स्थिर होने का बिल्कुल स्थिर हो गया वो ऊपर वाला जो दोस्त था फिर वो नीचे उतर के आया कहा कि अब बच गए बहुत अच्छा हुआ प्रसन्नता हुई तो दोस्त ने पूछा कि वो भालू तुमको कान में क्या कह रहा था वो भालू सूंघ रहा था ना उसको इधर उधर इधर उधर मुंह पे वो अपना परीक्षण कर रहा था तो वो कान में भी उसने सूंघा तो ऊपर वाले दोस्त ने कहा कि वो भालू तुमको कान में क्या कह रहा था तो भालू को तो क्या कहना था उसको अपने मन की बात कुछ कहनी थी तो बोले ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र मत बनाओ जो आपत्ति काल में तुमको छोड़ करके भाग जाए ये भालू कह करके गए खैर मैं भालू की कहानी तो मैं इसलिए कह रहा था कि नाटक करके हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं सांस भी रोक लिया ऐसे नाटक में भी करते हैं हम वहां कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए बैठ गए ऐसे बिल्कुल शरीर को स्थिर कर लिया परमात्मा का स्मरण ला करके ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र का उच्चारण और परमात्मा से क्या प्रार्थना करने की कि मेरा मन जैसे मेरा शरीर मैंने बिल्कुल स्थिर कर दिया है ऐसे ही मेरा मन भी स्थिर हो जाए एकाग्र हो जाए जिससे मैं जो भी पढ़ू मन एकाग्र रहे मेरा जो भी कार्य करूं वो अच्छी तरह कर सकूं और अधिक अच्छी तरह कर सकूं ये ध्यान के समय ऐसे होता है फिर ध्यान करते करते कोई समस्या आती है तो पिताजी से पूछो और किसी से पूछो यहां इतने वान हैं और विद्वान लोग हैं जो साधना करते हैं उनसे पूछो कभी ऐसे पूछो करके देखो फिर आपको पता लगेगा कि ध्यान का क्या होता है दुनिया में बहुत चीजें सुखदायी हैं बाहर इंद्रियों से हम देखते हैं सुनते हैं चखते हैं बहुत चीजें अच्छी लगती हैं एक अंदर का भी सुख होता है जब भार का सारा रोक करके हम परमात्मा की गोदी में बैठ जाते हैं और परमात्मा को पूरी तरह स्वीकार करते हैं अंदर अकेले में होते हैं उस समय का भी एक सुख आनंद होता है वो तब आएगा जब ध्यान करेंगे थोड़ी देर बैठेंगे सब काम को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए जितनी देर भी मिलती है पांच दस मिनट से भी शुरू कर सकते थोड़ी देर के लिए बैठ गए सबको माता जी पिताजी को भी बोल दिया कि इस समय मेरे को कोई काम नहीं बताना है इस समय और कुछ नहीं कहना है जब आप अपनी रुचि का कोई कार्यक्रम देखते हैं दूरदर्शन पे तो कहने की जी इस समय मेरे को नहीं बताना बाद में भले ही कितना काम बता दो उस समय मेरे को काम के लिए मत भेजना हुँ? हम्म? सामान लेने मत भेजना इस समय नहीं भेजना और इस समय भेजना ऐसे उनको बोलो कि थोड़ी सी देर के लिए मैं बैठूंगा भक्त प्रहलाद का नाम सुना है भक्त प्रहलाद का नाम सुना है कौन थे होली में दहन करते हैं कुछ होली होली खेलते हैं ना होली खेलने के पहले दिन क्या करते हैं होली जलाते हैं पिताजी से पूछना घटना को पता होगी वैसे तो वो छोटा सा बच्चा था बिल्कुल छोटा आप लोगों जैसा छोटा बच्चा पिताजी से किस बात से झगड़ा हुआ उसको परमात्मा की लगन लग गई थी परमात्मा को चाहता था वो भक्ति करता था आज भक्त प्रहलाद को हम आज भी याद करते हैं उनके पिताजी को भी याद करते हैं हिरण्य कश्यप को और कि भुआ को होली दहन के अंदर होली में एक मोटा डंडा गाड़ते हैं बीच में और तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं तिनके विनके गोबर के और वो बहुत सारी चीजें जो जलती हैं एक बीच में मोटा डंडा गाड़ते हैं वो क्या होता है जलाने के बाद में फिर उसको वहां से निकाल लेते हैं वो बच जाता है ना तो पतले तिनके तो जल्दी जल जाते हैं आग में और आग के बीच में रहते हुए भी वो लकड़ी और पतले तिनकों की बजाय जलती नहीं है इस संसार में तरह तरह की अग्नियां आती रहेंगी कभी कोई छेड़ेगा कोई कुछ करेगा कोई उल्टा सीधा बोल देगा कोई गाली बक देगा ठीक है उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं जिससे हम जलते हैं लेकिन भक्ति अगर हमारे पास में है भक्त प्रहलाद की तरह है तो तिनके तो जल जाएंगे हम बच जाते क्योंकि हम मजबूत हो गए अंदर से मजबूत हो गए मन हमारा दृढ़ हो गया है हम उन विपरीत स्थितियों से वैसे प्रभावित नहीं होते हैं जैसे दूसरे हो जाते हैं तो परमात्मा की भक्ति परमात्मा का ध्यान जो मन में बल दे देता है एक शक्ति आती है अंदर की शक्ति आती है और जिसमें अंदर की शक्ति आ जाती है वो डरता नहीं है फिर शरीर कैसा भी हो उसका वो डरता नहीं है और अंदर की शक्ति नहीं है आत्मबल नहीं है तो शरीर कितना भी बलवान हो कितना ही मजबूत घर बना रखा हो भले ही सुरक्षा के उपाय कर रखे हो स्टैंड गन रख लियो लाठी रख लियो तलवार रख लियो तो भी अंदर ही अंदर डरता रहता है वो अंदर ही अंदर डरता रहता है इससे डरेगा उससे डरेगा एक ताला लगाएगा दो लगाएगा सब कुछ बंद करके भी अंदर डर लगता रहता है कि ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए अब उस डर में क्या जीवन होगा उसका तो ध्यान साधना करने से परमात्मा की भक्ति करने से हमारे अंदर निर्भयता आती है भय हमारा कम होता चला जाता है डर कम हो जाता है अंदर से हम निर्भय हो जाते हैं बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए कोई दुख हो जाए असफलता हो जाए घर में किसी की मृत्यु हो जाए घर ढह जाए पैसे का नुकसान हो जाए होता रहता है कुछ ना कुछ जीवन में ये विपरीत चीजें भी आ जाएं तो भी मन अंदर से दृढ़ रहता है विश्वास रहता है कोई बात नहीं ऐसा हो गया फिर कर लूंगा फिर प्रयास करूंगा घबराता नहीं नहीं तो हाय हाय करता रहता है हाय हाय करता रहता है दुखी होता रहता है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे ध्यान की बहुत ऊंचाइयां हैं ऊपर ऊपर ऊपर दूसरे ढंग से कहो तो और अंदर अंदर अंदर अंदर जाते जाते हैं जाते जाते हैं भक्त बन जाते हैं योगी बन जाते हैं और हमारे जीवन को हम सफल कर पाते हैं तो इतना पर्याप्त है प्रणाम ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः